बिल्कुल सामने है ये अंग्रेजी के पंडित लोग धर्म शब्द का क्या अनुवाद करते हैं वो हमको मालूम है पर ये मजहब जिस जिस धर्म का अर्थ मजहब होता है हमारा धर्म वो है जिसके पहले कोई शब्द जुड़ जाए ये इस्लाम है ये कृष्ण है ये बौद्ध है ये सिख है ये हिंदू है जिस धर्म के पहले कोई भी शब्द उपपद जुड़ जाता है उसको हम लोग धर्म नहीं कहते सिख मजहब दूसरी चीज है धर्म नहीं है ईसाई मजहब दूसरी चीज है इस्लाम मजहब दूसरी चीज है हिंदू मजहब दूसरी चीज होगा हमको मालूम नहीं धर्म के साथ वो नहीं जुड़ता है धर्म एक घेरे में निवास नहीं करता धर्म का घेरा अनंत है धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा धर्म के आधार पर ये दुनिया टिकी हुई है जो सारी दुनिया को धारण करने वाला है एक सेतुर बिना रहा धर्म को हिंदू मुसलमान की पहचान नहीं है उसको पशु पक्षी की भी पहचान है सबकी रक्षा करना सबको अपने स्वभाव सांप को सांप बनाए रखता है जो उसका नाम धर्म है और कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो सांप को कि तो उसमें जहर न रहे वो सांप का धर्म नहीं है वो धर्म नहीं है धर्म वो है जिससे बिच्छू बिच्छू रहता है जिससे साफ साफ रहता है जिससे अंगूर अंगूर फलता है जिससे करेला करेला फलता है जिस बीज के साथ धर्म वस्तु मिलती है उस बीज का उल्लास होता है विकास होता है हाँ, धर्म तो कारणात्मक बीज वस्तु है तो एक होता है बीजात्मक धर्म जिससे ये सृष्टि बनते है और एक होता है कार्यात्मक धर्म जिसको हम लोग कर करके हरण करते हैं एक होता है साध्य और एक होता है साधन तो धर्म का साध्य जो है वो क्या है कि स्वर्ग है और परलोक है समाधि है ये सब धर्म का साध्य है साधन क्या है तो यज्ञ जागा रूप धर्म भी साधन है उपासना पूजा रूप धर्म भी साधन है यज्ञ जागा बहिरंग धर्म है और जो पूजा उपासना है वो अंतरंग धर्म और योगाभ्यास परम अंतरंग धर्म है ये तीनों जीवात्मा करता है और इनके फल स्वरूप जिस साध्य फल की प्राप्ति होती है जो फल उत्पन्न होते वेदांत का बड़ा गहरा सिद्धांत है वो गहर सिद्धांत है वेदांत का जो मैं आपको सुना रहा हूं तो आत्मज्ञान में जो साधनात्मक धर्म है उसका भी संन्यास होता है और जो साध्यात्मक धर्म है फलात्मक धर्म है बीजात्मक धर्म है बीज कहो फल कहो बीज ही फल हो जाता है फल ही बीज हो जाता है वो कारण है तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है कि कार्य छोड़ो कारण छोड़ो ये जो प्रकृति का विलास सृष्टि में दिख रहा है इसको छोड़ो और इसका जो कारण है प्रकृति प्रधान कहो उसको छोड़ो प्रधान माने बीज होता है अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद सर्वधर्मान परिच्छेद माने जो समाधि का फल है उसको भी छोड़ो जो उपासना का फल है उसको भी छोड़ो जो धर्म का फल है उसको भी छोड़ो जो धर्म उपासना और समाधि को प्रेरणा देकर करवाता है तो उस प्रेरक को भी छोड़ो और ये जो धर्म उपासना समाधि रूप साधन है इसको भी छोड़ो तीनों के प्रेरक तीनों के स्वरूप और तीनों का फल इनका करो परित्याग कोई बात समझ में नहीं आ रहा तब भी सुननी चाहिए वो सुनने का बड़ा पुण्य होता है क्योंकि एक बार दो बार तीन बार चार बार सुनने पर हाँ, वो समझ में आने लगता है मामेकं शरण व्रज ऐसे बोलते हैं माम एकम अब जिन लोगों ने नहीं देखा होगा ना हमारी तरफ हमको क्या पता चला होगा कि मैंने क्या कहा जो महाराज माला बनाते होंगे बैठ के हैं या चावल चुगते होंगे चुनते होंगे या बैठ के ध्यान करते होंगे उनको समझ में कैसे आ कृष्ण बोलते हैं माँ आप एक बार देखो छाती ठोक के बोलते हैं माँ और उंगली दिखा के बोलते हैं बोला <laughs> अभिनय न थे जिसको बोलते हैं अभिनय करके पार्थ करके हो नाटक में जैसे कोई बात समझाई जाती है ऐसे समझाते कर हमारे एक महात्मा थे तो गीता का पाठ करते थे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम गज ऐसे वो पूरी गीता ही ऐसे पढ़ते थे अकेले पढ़ते थे हाँ, पर अभिनय करके पढ़ते थे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अब गीता में जरा माम की खोज करो कि कृष्ण का मैं क्या है देखो हम लोग तो बोलते हैं मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर नंद नंदन पर गीता में <laughs> कहीं भगवान ने न अपने को मुरली मनोहर कहा है न अर्जुन ने कहा है ना कृष्ण न संजय है न तो पीताम्बरधारी है पीताम्बरधारी भी नहीं है तो नंद नंदन भी नहीं है श्याम सुंदर भी नहीं है ये तो हमारे मधुसूदन सरस्वती की जो व्याख्या है उसमें हमारा अचन आनंद कल्याण का आपको मुरली मनोहर पीता श्याम सुंदर नंद नंदन गोवर्धन धारी गोपी जनवल्लभ मधुसूदन सरस्वती जी केशव कश्मीरी जी श्री रामानुजाचार्य मध्वाचार्य नारायण का नाम करते कतर भोज रमा रमण नारायण तो जरा गीता में कृष्ण के माम को मत्पर है ना पहले आया स्थित प्रज्ञ के लक्षण में पर उसका अर्थ किया शंकराचार्य ने अहम वासुदेव एवं परो तो वसुदेव का भी पर वासुदेव है नारायण परो व्यक्ता अब आपको माम ढूंढने की युक्ति बता रही पहला प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण अपने मैं का प्रयोग निर्गुण के लिए करते हैं कि सगुण के लिए निर्गुणम मां अथवा सगुणम मां एक प्रश्न ये उठता है ऐसे भाई किससे कहानी की तरह मत पढ़ना तो गीता शास्त्र मदम पुंसन बड़े बड़े आचार्यों ने सभी आचार्यों ने शैव शास्त्र गणपत सौर वैष्णव सबने गीता की व्याख्या की है वेदांति अद्वैती द्वैती विशिष्टाद्वैती सबने गीता की व्याख्या की है ये कोई बहुत मामूली चीज अच्छा आपको सुनाते हैं माम का अर्थ सगुण है कि निर्गुण तो देखो एक जगह निर्गुण की तो उपासना करवाई है और सगुण माम को सगुण कृष्ण को मिला दिया आपको सुना ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलम् ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धय उपासना किसकी हुई का अक्षर ब्रह्म की उपासना अक्षर अनिर्देश अव्यक्त सर्वत्र सर्वव्यापी अचिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुव और इंद्रिय ग्राम का संनियमन करके परमात्मा की उपासना की अक्षर अव्यक्त अनिर्देश मिला क्या ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रहा उन्हें मेरी प्राप्ति होते है ले उपासना की अक्षर ब्रह्म की अव्यक्त की अनिर्देश की और मिलेगा क्या मामेव पर ध्यान दो माम एकम शरणम प्रजा मिलेगा उनको माम अब देखो एक जगह ये तो निर्गुण उपासना से सगुण माम की सगुण कृष्ण की प्राप्ति हुई सगुण परमेश्वर अब दूसरी जगह देखो सगुण की भक्ति से निर्गुण की प्राप्ति होती माम चो जो विचारेण भक्ति योगे न देवते सगुणान समदीप्यता ब्रह्म भूयाय कल्पते सेवा करेगा भगवान की श्री कृष्ण की और प्राप्ति होगी ब्रह्म की ब्रह्म की उपासना से श्री कृष्ण की प्राप्ति और श्री कृष्ण की उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति मिला लो इसको माम से जो व्यभिचारे न भक्ति योग्य न सेवते ये चौदहवें अध्याय का श्लोक है वो पुरातित हो जाएगा करेगा भक्ति भगवान की और हो जाएगा गुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा और देखो बारहवें अध्याय भक्ति करेगा निर्गुण ब्रह्म की और मिल जाएंगे उसको भगवान ते प्राप्तमेव सर्वभूत तो देखो जब कोई भक्ति करना शुरू करता है तब उसका मन दुविधा में न पड़ जाए इसके लिए उसको सगुण ब्रह्म का उपदेश दिया जाता है कहीं वो निर्गुण की खोज करने लग जाए तो उसके भक्ति के अनुष्ठान में ही बाधा पड़ जाए और जब कोई निर्गुण ब्रह्म का जिज्ञासु आता है तो उससे कहते हैं बाबा अभी तुम पूजा पाठ में ज्यादा मत लगो आओ जिज्ञासा करो वेदांत सीखो तो जिज्ञासु के लिए अलग रास्ता है ये ठीक पूजा पाठ करने वाले के लिए अलग रास्ता है ये ठीक लेकिन फल में भेद नहीं होता है भला भगवान की दृष्टि में सगुण और निर्गुण का क्या भेद महात्मा की दृष्टि में सगुण और निर्गुण का क्या भेद जिसकी दृष्टि में नरक स्वर्ग का ही भेद नहीं है जिसकी दृष्टि में पाप पुण्य का ही भेद नहीं है जिसकी दृष्टि में आकृतिगत कोई भेद है ही नहीं गुणगत कोई भेद है ही नहीं जातिगत कोई भेद नहीं है और न सकल सूरत का भेद है न गुण का भेद है न जाति का भेद है जिसकी दृष्टि में अहम इदम स्वाम तत् का भी भेद नहीं है मैं यह तुम वह ये सब भी भेद जिसकी दृष्टि में नहीं है वो सगुण और निर्गुण का भेद बना रहेगा तो आओ माँ माँ वही गेय तत्व है उसको गेय तत्व है क्या गेय तत्व है गेयम जब तक प्रवक्ष्यामी यज्ञात्वामृतमष्टे अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नाथुज्यते सर्वतः पाणिपादं ततो सर्वतोक्षिशिर्मुख सर्वतः श्रुतिमल्लोके असक्तम एक तो जो जीवात्मा के द्वारा साधन किए जाते हैं तो और एक उस साधन से जिस फल वस्तु की उपलब्धि होती है तो दोनों को छोड़कर उसकी शरण में आओ जिसमें न साधन है न फल है न साधन है न फल है वो है माँ क्या है अनादिमत परम ब्रह्म न सत्य न वो सत्य है न सत्य दैत्य लोग असत को ग्रहण करते हैं और भक्त लोग धर्मात्मा लोग सत्य को ग्रहण करते हैं और स्वयं परमात्मा में न सत है ना सत है महात्मा लोग न उसको सत कहते हैं सत सत्य और तत्व दृष्टि से सत असत सब वही है आपने देखा अमृतंच मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन ये है कृष्ण का नाम कृष्ण का नाम है अमृत भी वही मृत्यु भी वही सत भी वही असत भी वही सद असत तत्परम जत वो क्या है वही सत्य है वही असत्य है और वही सद सत्य परे है न सत न सदुचित है न उसको सत कह सकते न उसको असत कह सकते ये वेद का मंत्र सदा सदाशीन नो सदा सदा न सत्य है न सत्य ये परमात्मा का स्वरूप तभी क्या है कि ये सारी सृष्टि हो माओ आपको निकालना हो संसार में से नहीं निकालो दृष्टि में से आपको नहीं निकालना आपको निकालना तो देह में से है देह में अहम भाव है कोई विश्व में अहम भाव थोड़ी है तीन प्रकार का जो देह है स्थूल सूक्ष्म कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तुम नहीं हो तुम इनके दृष्टा साक्षी हो और वो दृष्टा साक्षी परिच्छिन्न नहीं है साक्षात अद्वितीय ब्रह्म है और ब्राह्मण और ब्रह्म के सिवा तो और कुछ है नहीं चरण से आचरण में होते तो। चर भी वही अचर भी वही सूक्ष्म तदविज्ञेयम हाँ ये है गीता हो माम एकम शरणम ब्रज ये मां वो निराकार नहीं है उड़िया बाबा जी से किसी ने कहा महाराज परमात्मा तो निराकार है तो बोले कि फिर साकार क्या तेरा चच्चा लगता है ऐसे ऐसे बोले साकार क्या तेरा चच्चा लगता है अरे निराकार वही है साकार वही है साकार वही है निराकार वही है ये दुनिया को अलग बना के ईसाई मजहब में दुनिया को ईश्वर से अलग मानते हैं मुसलमान मजहब में दुनिया को ईश्वर से अलग मानते हैं और समाजी दुनिया को ईश्वर से अलग मानते हैं महाराज वेदांत धर्म है ये सृष्टि को ईश्वर से अलग नहीं मानता सृष्टि से अलग करके ईश्वर की पहचान होती है पर ईश्वर को पहचान जाने पर सृष्टि अलग नहीं होती है ईश्वर रूप होती है एक बार दिया बाबा जी के साथ एक महात्मा बैठे हुए थे नाम नहीं लेता हूं क्योंकि आप लोग नाम जानते हैं तो उनके भक्त लोग उनके उनको मानते हैं साक्षात भगवान तो उन्होंने उड़िया बाबा जी से पूछा महाराज आप हमारे उनको क्या मानते हैं दोनों अगल बगल बैठे बाबा पहले तो बोलते नहीं थे हंसते थे हंसते थे हंसते थे बोलते ही नहीं थे तो जब बहुत जिद की उसने तब बोले थी भाई बेटा जो मैं हूँ सो ये है जो ये है सो मैं हूँ तो तो है ही नहीं तो उसने कहा बाबा तुम तो वेदांत की बात करते हो हमको अपनी बात बताओ वेदांत तो असली नहीं होता है वो जो मानता है तो असली होता है वो है ना वो कहता है जो हम मानते हैं तो तुम बोल के बताओ तो बाबा ने बोला दादा बोले कि देख यदि ये मुझसे अलग है तो मिथ्या है माया मात्र है इनकी कोई सत्ता नहीं है मुझसे अलग होकर कोई वस्तु सत्यावान नहीं हो सकती यदि है तो जो मैं हूं तो ये है जो ये है तो मैं और यदि मुझसे अलग है तो ये कुछ नहीं है माया में मिथ्या है शून्य है नारायण श्री कृष्ण का नाम क्या है आप अनुसंधान करो सर्वधर्मान परित्यज्य साध्य साधन को छोड़ करके श्री कृष्ण के अहम पद का जो अर्थ है उसको समझो तब सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ आवेगा ओम नमो नारायण तो हुआ नहीं है आवृत नहीं है केवल अज्ञान से आवृत होता है तो शारीरिक जीवन के लिए धन दौलत की जरूरत पड़ती है वो गृहस्थ को भी पड़ती है साधु को भी पड़ती है खाना पीना कपड़ा रहना सब कुछ है वो तो एक वैराग्य का त्याग का जब नशा आता है तो नशे में सिर्फ गाली देना आता है चाहे धन को गाली दे लें चाहे पुरुष महात्मा हो तो स्त्री को गाली दे लें और स्त्री महात्मा हो तो पुरुष को गाली दे लें पर वो होता है एक जोश वो होता है एक नशा तो अपने को सुखी रखने के लिए व्यवहार में होती है धन की आवश्यकता और मन में होती है कामना पूर्ति की आवश्यकता और जब ये दोनों गड़बड़ में पड़ते हों तो इनको काबू में रखने के लिए होती है धर्म की आवश्यकता धर्म जरा आत्मा से बिल्कुल पास पड़ता है क्योंकि आत्मा है और बुद्धि है बुद्धि है और आत्मा है ये दोनों एक साथ रहते हैं तो मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है जिनको मुक्ति मार्ग में नहीं जाना है केवल पैसे ही कमाना है या जवानी का जोश है भोग तो ही भोगना है धर्म को छोड़ करके भोग भोगना या धर्म को छोड़कर धन कमाना ये दोनों संसार में फंसाने का मार्ग है और भोग और धन के द्वारा भी धर्म की सेवा करना ये संसार से मुक्ति का मार्ग है आप धन के द्वारा भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं पर कैसे धन के द्वारा पहले धर्म के पास जाना पड़ेगा और फिर धर्म आपको मुक्ति के मार्ग में डाल देगा आप काम भोग के द्वारा ही मुक्ति के मार्ग पर जा सकते हैं परंतु वो काम भोग पहले ले जाके धर्म में डालेगा और फिर धर्म मुक्ति का दरवाजा खोलेगा धर्म और मोक्ष के बीच में है अंतकरण की शुद्धि यदि कामना पूर्ति के लिए धर्म करेंगे या अर्थ प्राप्ति के लिए धर्म करेंगे तो वो भी होगा क्योंकि धर्म तो दोनों का मालिक है अर्थ और काम का तो मालिक है धर्म और मोक्ष का सेवक है धर्म अर्थ और काम का मालिक है और मोक्ष का सेवक है धर्म तो जीवन में धर्म की आवश्यकता पड़ती है अच्छा तो अब आप देखो कि यज्ञ जागादि रूप धर्म करने में अधिकारी की आवश्यकता होती है कौन क्या धर्म करे जैसे स्त्री शरीर के लिए सती धर्म है वो विवाहे प्रतिप्रता उसका धर्म है कि वो अपने को अपने सतीत्व को सुरक्षित करे ऐसे ही जो जगह जाग आदि है उसमें करने के लिए भी शरीर की अपेक्षा होती है ब्राह्मण हो तो बृहस्पति सब करे वाजपेयी करे क्षत्रिय हो तो राजसूय करे हाँ, वैश्य हो तो वैश्य स्तोम करे निषादस्थपति होए तो वो अपने लिए जो विधान है शास्त्र में वो निषादस्थपति याद करे स्तोम करे शरीर से धर्म करना है अब अंतकरण जब शुद्ध होता है स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से होती है वो और इस लोक में सुख भी मिलता है परंतु धर्म का फल केवल इस लोक का सुख या परलोक का सुख नहीं धर्म अपने आश्रय को शुद्ध करता है धन अपने आश्रय को शुद्ध तब करता है जब उसका उपयोग धर्म में हो नहीं तो अपने आश्रय को दूषित करता है और आश्रय माने जिसके पास रहता है धन जिसके पास रहता है अगर धर्म के काम में रहे तो लगा लगे तो उसको शुद्ध करना और नहीं तो अशुद्ध बनाता है और कामना भी जिसके पास रहती है उसको अशुद्ध करती है परंतु कामना यदि स्वर्ग की हो वैकुंठ की हो भगवान की हो तो वो अपने आश्रय को शुद्ध बनाते हैं धर्म निष्काम सकाम हो तो तो हमारे धार्मिक आचार्यों ने धर्माचार्यों ने ये निर्णय किया है कि यदि मनुष्य के मन में स्वर्ग की वैकुंठ की कामना हो तो धर्म अंतकरण को शुद्ध करता है क्यों करता है गीता में तो आप लोग पढ़ेंगे संगम त्यक्वा परंचय कामना का परित्याग करके कर्म करो परंतु धर्मशास्त्र का ये निश्चय है इसके संबंध में कि जैसे कोई चाहता है कि हमको स्वर्ग मिले स्वर्ग की प्राप्ति की कामना कि धर्म उस कामना को पूर्ण करेगा स्वर्ग मिले जाएगा परंतु स्वर्ग में जाने के लिए आपको देवता का शरीर चाहिए तो धर्म इस हड्डी मांस चांद के शरीर में जो अभिनिवेश है तन्मयता है उसको दूर करके एक देवता का शरीर बनावे तो ये जो देवता का शरीर बनेगा आपका अंतकरण देवता हो जाएगा वो तो वो देवता स्वर्ग भोग के योग्य देवता के शरीर का निर्माण का ये भी अंतकरण की एक प्रकार की शुद्धि है तो काम्य भी शुद्धि रखते हो ये धर्मशास्त्र का निर्णय है तो जब से मैं बाबा जी लोगों में आ गया तो हमारा जो धर्म का ज्ञान था ना वो धरा ही रह गया एक बात आपको और सुना दें जैसे ईसाई मजहब को ठीक चलाने के लिए पादरी होते हैं और इस्लाम मजहब को ठीक चलाने के लिए हाँ, मौलवी होते हैं ऐसे हिंदू धर्म को भी ठीक ठीक चलाने के लिए ब्राह्मण विद्वान पुरोहित की आवश्यकता होती है जो तुम्हारे संस्कार को करावे यज्ञोपवीत विवाह ठीक करावे और श्राद्ध ठीक करावे देवता की पूजा ठीक करावे तुम्हारा व्रत तीर्थ ठीक रखे उसके लिए ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता होती है और पहले ही कहीं ये फकीरी ढंग के बाबा जी लोग मिल जाएंगे तो वो संस्कार भी छुड़ा देंगे उपवीत भी छुड़ा देंगे विवाह की रीति तीर्थ व्रत स्नान पूजा पाठ सब छुड़ा के महाराज आपका जो परंपरागत सनातन धर्म है उसको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं तो ये जो त्यागी और वैराग्यवान साधु लोग होते हैं तो इसमें भी बड़ी गड़बड़ी हुई आप लोगों को मत मानना बहुत से लोगों ने देखा कि या तो हम ब्राह्मण होते तो हमारी पूजा होती हिंदू धर्म में पर ब्राह्मण तो हम हुए नहीं तो अब क्या करें कब तो बोले अब साधु बन जाएंगे तो हमारी पूजा होगी तो साधु का वेश धारण कर लिया तो जो ब्राह्मणों के द्वारा संस्कार और धर्मानुष्ठान घर में होता था वो बिल्कुल बंद हो गया और वे लोग उस वैदिक धर्म में कोई रुचि नहीं रखते तो धर्म अंतकरण की शुद्धि है और इस शुद्धि में भगवान ने चार बात निचोड़ करके रख दी अभी हम आपको सुनावेंगे मामेकम शरणम हो जाए सुनावेंगे तो मामेकम शरणम एक और तो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज तो धर्म का मतलब मजहब छोड़ना नहीं है हम ये बात नहीं मानते हैं कि ईसाई हिंदू हो जाएगा तब उसका कल्याण होगा या हिंदू ईसाई हो जाएगा तब उसका कल्याण होगा जो जिसका धर्म है वो उस धर्म में निष्ठावान होगा तब उसका कल्याण होगा अपना धर्म जब छोड़ देगा तब वो पराया धर्म भी ठीक ठीक पालन नहीं करेगा तो सनातन धर्म की रीति ये है कि उसमें जिसकी परंपरा में जो है मुसलमान मुसलमान रहे ईसाई ईसाई रहे हिंदू हिंदू रहे अपने आचार्य में अपने ग्रंथ में अपने विचार में दर्शन में निष्ठा रखे उस निष्ठा के द्वारा जितना कुछ प्राप्त होता है उसको प्राप्त कर रहे हैं तो वहां से जब वो परब्रह्म परमात्मा को देखेगा तो जैसे किसी प्वाइंट से देखने पर कोई चीज एक तरह की दिखती है वैसा वो दिखेगा सब धर्म चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो एक दृष्टिकोण से वो अपने लक्ष्य को दिखाते हैं ध्येय को दिखाते हैं इसलिए तुम्हारा धर्म खराब है और हमारा धर्म अच्छा है ये तो महाराज एक दम गलत परंपरा है तो आओ अब धर्म का निचोड़ एक और तो बोलते हैं कि सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आओ और एक और बताते हैं कि ये बात मेरी शरण में आओ ये बात सबको मत बताओ चार गुण हो तो बताओ आपके ध्यान में वो लोगों को सर्वधर्मान याद रहता है हो परंतु ठीक सर्वधर्मान परित्यज्य के बाद जो इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम जो सूयती तपस्या भक्ति जिज्ञासा और समता ये चार गुण जिसके अंदर होंगे उसको सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज इसका उपदेश करना ये तो बात भूल जाती है सर्वधर्मान परित्यज्य तो सबको याद है और पाठ को इदंते ना तपस्काय का भी करते हैं जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य गीता है वैसे इदंते ना तपस्काय ये भी गीता है जैसे वो भगवान का वचन है वैसे ये भी भगवान का वचन है तो सर्वधर्मान परित्यज्य में अब देखो ये शुरू में कहते हैं सब धर्मों का परित्याग करके आओ और अंत में कहते हैं कि ये चार बात जिसमें न हो उसको उपदेश ही नहीं करना तो चार बात क्या चाहिए आप देखो ध्यान दो हे भगवान किसी बात को समझने में अधूरापन नहीं होना चाहिए उसको पूरा समझना भगवान कहते हैं जिसमें तपस्या न हो उसको सर्वधर्मान परित्यज्य का उपदेश मत करना पहले तपस्वी बनो तो तपस्वी का अर्थ ये नहीं है कि पांच या चौरासी धूनी चारों ओर जला के बैठ जाएं और जेठ की धूप में दोपहर में हड़िया में आग लेके सिर पर रख लें और चारों तरफ धूनी जला लें और वैसे ये तपस्या का अर्थ नहीं है तो उपनिषदों में जहां तपस्या शब्द का प्रयोग है वहां तो उसका अर्थ आलोचना है तप आलोचना है स्वतपो तप्यता भगवान ने विचार किया ईश्वर ने विचार किया परंतु यहाँ गीता में तपस्या का अर्थ विचार नहीं है तपस्या में यहाँ जो तपस्या का अर्थ है तपस का अर्थ है वो आप गीता में से ही ढूंढ लीजिए शरीर में तप वाणी में तप और मन में तप तीन तरह का तप जीवन में चाहिए अब उसमें जात पात का भेद नहीं है उसमें मजहब का भेद नहीं है किसी भी मजहब का आदमी हो ये तप कर सकता है देवद्विज गुरु देवद्विजगुरुप्राज्ञो पूजनम् शौचमादनम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसाम् च शारीरम् ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम् तप उच्यते देवता की पूजा ब्राह्मण की पूजा गुरु की पूजा की होगा देखो इसमें ब्राह्मण अलग है गुरु अलग है विद्वान अलग है वो आप देखते हैं कि नहीं यानी कि जो विद्वान है कोई ब्राह्मण है तो नहीं भगवान ने ब्राह्मण को अलग रखा और प्राग्ञ को प्रज्ञावान को अलग रखा तो देवता की पूजा ब्राह्मण की पूजा गुरु की पूजा और गुरु अलग है वो ब्राह्मण से भी अलग है और विद्वान से भी अलग है वो तो प्राइवेट है प्राइवेट हाँ, का मतलब आप समझो कि जैसे गंडकी नदी है या नर्मदा नदी है उसमें पत्थर पड़े हैं तो सब पत्थर शिव हैं नर्मदा में और सब पत्थर शिव हैं गंडकी में सालग्राम है गंडकी में और लेकिन सबकी पूजा तो नहीं करोगे ना उसमें से एक छाट के ले आओगे अपने घर में तो वो सालग्राम आपका प्राइवेट हो जाएगा वो शिवलिंग आपका प्राइवेट हो जाएगा तो प्राज्ञ तो दुनिया में बहुत से हैं प्रज्ञावान विद्वान परंतु उनमें से जो एक होता है वो गुरु होता है तो देवता की पूजा ब्राह्मण की पूजा गुरु की पूजा विद्वान की पूजा और अपने शरीर को स्नान आदि से पवित्र रखना और आर्जवम झुक के चलना सीना थान के नहीं चलना रिजुता सरलता जीवन में होनी चाहिए तो यहाँ शारीरिक तप का वर्णन है इसलिए मैंने आर्जवम का अर्थ इतराते हुए नहीं चलना इतलाते हुए नहीं चलना है छाती तान के नहीं चलना कहीं सिर भी जुटे कहीं हाथ भी जुड़े सरलता जीवन में रहे और अपने आश्रम के लिए जैसा ब्रह्मचर्य चाहिए वैसा ब्रह्मचर्य चाहिए हो गृहस्थाश्रम में भी ब्रह्मचर्य होता है अच्छा। एक बात आपको सुना मैं अब सरकारी लोग तो उसको ठीक समझे कि न समझे या सरकार के जो हैं वो क्या बोलते हैं चमचे हैं चापलूस खुशामदी उनकी बात हो गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य होता है जो शास्त्रोक्त नियम है पति पत्नी का सहवास कैसे होना चाहिए उसको करते हुए भी गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य हो वो बात आपको सुनाते हैं सत्याग्रते तो वाणिज्यम भागवत में ब्राह्मण को सत्य बोलना चाहिए परंतु वेद शास्त्र के अनुसार होना चाहिए है मनमाना सत्य नहीं होना चाहिए और क्षत्रिय को भी सत्य बोलना चाहिए परंतु उसको रणनीति युद्ध नीति राजनीति के अनुकूल होना चाहिए वो सोच समझ के बोलना चाहिए उसको और व्यापारी को व्यापार में बोले सत्या तो वाणिज्य सच और झूठ दोनों को मिलाकर व्यापार चलता है सच और सच सच और सच हा करके अपने व्यापार का सत्यानाश नहीं करना चाहिए कोई गहरा गहरा आपकी दुकान पर आवे कहे हमारा बीजक दिखा दो अपना बीजक दिखा दो हाँ, हाँ, तो उसको बीजक कैसे दिखाएंगे वो तो तुमको एक पैसा भी नहीं कमाने देगा वो तो कहेगा एक पैसा सह जाओ हमारे लिए क्या आ जाए घाटा उठा लो तो व्यापार में जो सत्य होता है क्षत्रिय का सत्य राजनीतिक होता है ब्राह्मण का सत्य शास्त्रोक्त होता है वैदिक होता है और व्यापारिक सत्य जो होता है उसमें सत्य और असत्य दोनों का मिश्रण होता है और शूद्र का जो सत्य होता है वो सेवाउपयिक होता है अपने मालिक की जैसे सेवा हो अब जैसे मालिक कह दे नौकर से कि देखो जी खूब आवे तो कह देना कि बाबूजी घर में नहीं है और नौकर कहे कि हम तो सत्य बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे तो कहेगा जाओ हम नहीं रखते तुमको अपने सेवा में तो नौकर को मालिक की सेवा की दृष्टि से कोई धंधा मारने के लिए आवे लड़ाई करने के लिए आवे और नौकर कह रहे वो पलंग पर सो रहे हैं चले जाओ <laughs> हाँ बोले हम तो बड़े सत्यवादी और बड़े अहिंसक हैं तो सेवा धर्म का उसका जो विशेष धर्म है सेवा धर्म उसका उल्लंघन हो जाएगा तो आप लोग गृहस्थाश्रम का ब्रह्मचर्य वर्णाश्रमोचित सत्य तो शूद्र का सत्य वैश्य का सत्य क्षत्रिय का सत्य ब्राह्मण का सत्य हम धर्म के व्याख्याता हैं बोला और जो कुछ धर्म के बारे में हम बोलते हैं ईश्वर के बारे में धर्म के बारे में भक्ति के बारे में वो हम सनातन और जो सत्य ब्रह्म की दृष्टि से जो बात है सो वैदिक सत्य हो वैदिक हिंसा हिंसा नहीं होती वैदिक असत्य असत्य नहीं